एक फनकार नहीं नहीं दो फनकार नमस्ते दोस्तों आज के इस दो फनकार कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं 12 अप्रैल को है बर्थ एनिवर्सरी केदार शर्मा साहब की उनके कॉम्बिनेशन के एल सैगल के साथ इसको समर्पित रहेगा ये कार्यक्रम जिसमें मैं एक और सीरीज में एक और कार्यक्रम भी करूंगा केदार शर्मा साहब ने कुछ गीत वगैरह गैर फिल्मी भी लिखे हैं जिन्हें वो हसरत के नाम से लिखते थे तो आइए सबसे पहले सुनते हैं एक गैर फिल्मी गीत जो 1935 के आसपास आया था के एल सैगल साहब के स्वर में the legacy of the legend K L Saigal किताब के अनुसार इसकी कॉम्पोजिशन रायचंद बुराल जी की लगती है इंटरेस्टिंगली इस गीत का उपयोग अमर सैगल फिल्म के लिए भी किया गया था इसका रिकॉर्ड जीनोफोन और कोलम्बिया दोनों लेबल पर निकला था और रिकॉर्ड पर लिखा था mister K L Saigal of New Theatres Limited जड़ा पंख जला बिजरा पंख जलाख बगूला बन कर पंख राख बगूला बन कर पास मोसा केदार शर्मा साहब सहगल को कैसे मिले उसका किस्सा भी इंटरेस्टिंग है यू थिएटर्स की फिल्म देख कर उन्होंने कोलकाता जाने का निश्चय किया वहाँ उन्हें मिले पृथ्वीराज कपूर उन्हीं के पड़ोस में रहते थे के एल सैगल इनकी दोस्ती हुई और के एल सैगल साहब ने ही इन्हें नितिन बोस को इंट्रोड्यूस कराया न्यू थिएटर्स में बतौर पेंटर काम शुरू किया और उन्हें बड़ा ब्रेक मिला उन्नीस की फिल्म देवदास से जिसके लिए उन्हें लिखने का मौका मिला और गाने भी लिखने को मिले उसी का ये प्यारा गीत सुनेंगे जो केदार शर्मा साहब का खुद का लिखा हुआ है इस गीत के संगीतकार का क्रेडिट तिमिर बरन साहब को दिया गया पर केदार शर्मा के अनुसार इसकी धुन वास्तव में के सैगल ने खुद बनाई थी न कोई मेरा न मैं किसी का न कोई मेरा देवदास के गीतों के हिट होने के बाद केदार शर्मा साहब को बहुत सराहना मिली बाद में उन्होंने एक बार कहा था कि ये फिल्म देवदास मेरे और बिमल रॉय दोनों के लिए बहुत बड़ी ब्रेक थी वो इस फिल्म के कैमरामैन थे और मैं राइटर उसके बाद और भी कई फिल्मों के लिए केदार शर्मा साहब ने गीत लिखे थे उन्ही में से एक फिल्म थी करोड़पति उसका ये गीत सुनेंगे जिसे के सैगल और पहाड़ी सान्याल ने गाया है आर सी बोराल का संगीत है ऐसा the legacy of the legend K Saigal में कहा गया है हालांकि फिल्म में देखें तो रायचंद बोराल और पंकज मलिक दोनों को क्रेडिट दिया गया था किताब तुम तो देखे हैं और ये बातें मुझे यकीन तूं महारे कोन पेंद हम सुनने वाले हैं एक गजल किदार शर्मा साहब की लिखी हुई ये गैर फिल्मी गजल थी जिसे के एल सैगल ने ही शायद खुद कंपोज किया था अपनी autobiography the one and lonely Kidar Sharma में किदार शर्मा जी बताते हैं कि 1935 के आसपास उनके पिताजी का उन्हें एक खत आया था कि उन्हें कुछ कर्जा चुकाना था और हर महीने सौ रूपए का कर्जा उन्हें अपने रिश्तेदारों को लौटाना होता था इस कर्जे की भरपाई के लिए केदार शर्मा जी ने कई गैर फिल्मी गीत लिखे थे जिनके लिए उन्हें पाँच पाँच रूपए मिले थे और उन्हीं गीत गजलों में से ये गजल है आइए इसे सुने जलना है तत पचायत सती माना न कयम आप सुनेंगे 1936 की फिल्म पुजारिन का गीत तिमिर बरन का संगीत है अरे दो दिन और भी जग में जिए सोचता है क्या और पिएगा पती पाती पातेगर जो अब तो पिएगा कई गीतों के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर केदार शर्मा साहब को क्रेडिट नहीं मिला कुछ ऐसी एक आध फिल्म भी हैं जहां उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया कुछ लोग कहते हैं कि 1937 में आई फिल्म प्रेसिडेंट भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसके गीत लिखने का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला जो भी हो उसके गीत बहुत कर्णप्रिय थे और ये वाला गीत जो के एल सहगल साहब ने गाया वो आज भी एक आम आदमी की व्यथा बताता है उसके सपने बताता है आरसी बोराल और पंकज मलिक का संगीत था इस फिल्म में ကသံဃာ ऑटोबायोग्राफी में केदार शर्मा बताते हैं कि कैसे एक बार उन्होंने आरजू लखनवी साहब के एक बोल के चयन पर आरजू साहब को कहा था आरजू साहब ने उसको अंडरलाइन कर दिया था बाद में केदार शर्मा साहब को एहसास हुआ कि वो गलत थे और वो ट्रैम पकड़कर दो तीन ट्रैम बदल कर आरजू साहब के घर पहुंचे और उन्हें बताया ऐसा था उनका प्यार आरजू साहब के साथ एक ऐसी फिल्म थी जिसमे कुछ गीत आरजू साहब ने लिखे थे और कुछ गीत केदार शर्मा साहब ने लिखे वो थी उन्नीस की फिल्म जिंदगी उसका एक गीत केदार शर्मा शर्मा साहब का लिखा हुआ बजाना चाहूंगा पंकज मलिक साहब ने इसे कंपोज किया था ये गीत वास्तव में केदार शर्मा साहब ने अपनी पत्नी राज दुलारी जी के लिए लिखा था सोजा राज दुलारी सोजा और इसी को बदल कर फिल्म के लिए सोजा राजकुमारी सोजा कर दिया गया तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत न्यू थिएटर्स में केदार शर्मा साहब के दो दोस्त थे एक के एल सैगल साहब और दूसरे पृथ्वीराज कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी में केदार शर्मा बताते हैं कि एक इंसिडेंट के कारण उन्होंने न्यू थिएटर्स छोड़ने का सोचा उन्होंने पृथ्वीराज जी को कहा कि सोमवार को मैं तुम्हें एक खबर दूंगा और सोमवार को जब दोनों मिले तो उल्टा पृथ्वीराज जी ने ही उन्हें खबर दे दी की जब तुम छोड़ रहे हो तो मैं भी छोड़ रहा हूँ न्यू थिएटर्स पृथ्वीराज जी आ गए थे बम्बई उसके बाद केदार शर्मा जी को कुछ और अवसर मिले और बाद में वे भी बम्बई आ गए थे रंजीत के पास फिल्म तानसेन के बाद कुछ डेट थी केएल सैगल साहब की और उन्होंने एक जल्दी फिल्म बनवाई थी किदा शर्मा जी से जिसका नाम था भवरा इसका एक नाम हरजाई भी था उसका एक इंटरेस्टिंग गीत बजाऊंगा इसमें आपको के एल सैगल और अमीर भाई कर्नाटकी का स्वर मिलेगा और आप ध्यान से सुनिएगा और पाएंगे की इस गीत में दोनों गायकों ने कुछ गड़बड़ की थी खेमचंद प्रकाश का संगीत है क्या हमने क्या हमने बिगाड़ा है क्यों हमको सताते हो क्या हमने बिगाड़ा है क्यों हमको सताते हो ना सामने आते हो चुप कैद नहीं जाए ना सामने आते हो ना सामने आते हो हम क्या कहता सिगारा है क्यों धूप सताते हो सुनते हैं वफा के हम हर जाए जाता तो सुनते हैं वफा के हम हर जाए जाता तो हम हर जाए जाता तो हम हर जाए जाता कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा भवरा के ही एक और गीत के साथ किदार शर्मा जी का लिखा हुआ और खेमचंद प्रकाश का संगीत पर आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा इन दोनों कलाकारों को समर्पित रखो बुखल कढ़ी रखाया न कंदो रखाया हाथ धो क जल जाता दिल मेरी मल जाता इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई फीडबैक हो मुझे Anmol Fankar at Gmail dot com A N M O L F A N K double A R at Gmail dot com पर जरूर भेजें मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सी यू